श्रुति का ये कहना है देश का ये कहना है कि जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो शोक समुद्र से पार हो उसके जीवन में से किसी प्रकार का शोक नहीं लेकिन जो करता है कर्तृ विज्ञान है उसको तो कर ही शोक एक तो कुछ पाने के लिए वो कर्म करता है कुछ परिवर्तन के लिए कर्म करता है जिसको परिवर्तन की इच्छा नहीं है उसको कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं कुछ बदलना चाहता है कोई सरकार बदलना चाहते हैं कोई समाज बदलना चाहते हैं कोई रहनी सहनी बदलना चाहते हैं कपड़ा बिगाड़ दिया रंग बिगाड़ दिया मैं खराब कर ले जाके कपड़ा स्वर्ग में जाएंगे तब सुखी होंगे वैकुंठ में जाएंगे तब सुखी होंगे मर जाएंगे तब सुखी होंगे समाधि लगेगी तब सुखी होंगे इतना पैसा होगा तब सुखी होंगे तो ये सब फालतू बात है चार बात में देखो हम लोग अपने में सुख का अनुभव करते हैं गिनती करके आप करते हैं एक तो अपने मन के मुताबिक विषय का भोग मिले तब हम सुखी होते हैं और एक हमारा अभिमान जिससे पढ़े उससे सुखी होता है हमारे पास इतना धन है इतनी विद्या है ऐसा रूप है ऐसी बेगम साहब है और हाँ, ऐसा इसका मध होता है नशा होता है उत्तमांगना परिश्वंग जन्य मध इसको बोलते हैं एक सौ छत्तीस तरह का नशा होता है मन में एक सौ छत्तीस तरह तो अपनी पत्नी बहुत सुंदर होने का भी एक नशा होता है और जब दूसरे से हंसने लगती है बात करने लगती है उसको देखने लगती है छूने लगती है तो नशा बिल्कुल काफूर हो जाता है शंका से अपना दिल दुखी हो जाता है तो एक होता है विषय भोग का आनंद और एक होता है अभिमान का आनंद हो हमारे पास इतना धन ऐसी पत्नी हमारे हमने ये यूनिवर्सिटी बनाई है ना हमने ये धर्मशाला बनाई हमने ये बनाया हमने ये बिगाड़ दिया ये अभिमान का आनंद है अभिमान और तीसरा होता है मनोराज्य का आनंद हम हमको ये सुख मिलेगा ये सुख मिलेगा ये सुख मिलेगा मनोराज्य काफी तो नहीं है आगे बढ़ जाएगा और चौथा सुख होता है आदत डाल लो तो जो चीज अपने को खाने पीने की आदत पड़ जाती है रहने सहने की आदत पड़ जाती है वो जब मिलती है तब कहते हैं बड़ा सुख मिला बड़ा सुख मिला बड़ा सुख मिला जिसको कसरत करने की आदत पड़ जाती है उसको जिस दिन नहीं मिलती है कसरत बड़ा भारी दुख होता है वो एक एक एक एक गांठ एक एक बंधन टूटने लगते हैं पिटवाना पड़ता है जिसको सूर्य नमस्कार की आदत पड़ जाती है रोज करते हैं ना सवेरे और एक दिन ऐसी जुट्टी लगा दो कि न मिले सूर्य नमस्कार करने फिर देखो ये अपनी खुद तो आदत डालते हैं और खुद उसमें दुखी होते हैं और मिल जाए बोले बहुत बढ़िया हुआ बहुत सुख मिला बहुत सुख मिला तो ये विषय भोग से सुख और अभिमान की वृद्धि से सुख और हमको आगे ये सुख मिलेगा मनोराज्य का सुख आशा का सुख आशा पिशा की परिवर्तिता है आशा की गातिन आशा का की गातिन आदमी को रोक रहे ये होगा ये होगा ये होगा तो माने ईश्वर के मत में मत ईश्वर की राय से तो तुम्हारी राय नहीं मिलती है तो बोले आज हाँ, आज दिन अच्छा नहीं है आज रात अच्छी नहीं है एक तिब्बत में एक सज्जन थे तो एक दिन सिर पर पट्टी बांध के महात्मा के सामने गए हो महात्मा ने पूछा क्यों भाई आज ही झंडा कैसे ठहरा लिया आपने सिर पे बोले महाराज सिर में बड़ा दर्द है अच्छा कह की उम्र हुई बीस बरस पहले भी कभी सिर में दर्द हुआ था कि नहीं तो तीस दिन ईश्वर तीस बरस तक ईश्वर ने तुम्हारे सिर में दर्द नहीं दिया तो एक दिन भी ठंडा नहीं फहराया कि देखो ईश्वर हमको दर्द नहीं देता है और एक दिन जरा सा दर्द दे दिया तो ईश्वर को बदनाम करते करते हो है? देखो तो ये परिवर्तन की जो इच्छा है ना वो अपने को फंसाती है भोग की इच्छा होगी तो खाने पीने में स्त्री पुरुष में फंसा देगी कपड़े रस्ते में फंसा देगी और वो नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे है? और धन का अभिमान विद्या का अभिमान चाहिए बड़े बड़े विद्वान हो धनियों की बात तो हम नहीं जानते हैं हम तो सुनते हैं कि उनमें भी बड़ी स्पर्धा होती है वो एक धनी दूसरे धनी को वो पीसता है हमने सुना है अपने भाई को दबाते हैं अपने बेटे को दबाते हैं अपने बाप को दबाते हैं ये अभिमान अभिमान और मधुसूदन सरस्वती थे हमारे अद्वैत सिद्धि जैसे ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया वेदांत कल्प लिखा लिखी सिद्धांत बिंदु लिखा बड़े बड़े ग्रंथ अद्वैत रत्न रक्षण वेदांत कल्प लतिका सिद्धि तो एक दिन महाराज बैठे थे काशी में महात्मा कोई आ गया और आके वो तो बैठे थे नीचे वो उनकी गद्दी पर बैठ गया देखा भाई कौन है गद्दी पर आके बैठ गया तो उसने कहा हे मधुसूदन सुनो हम एक बात तुमसे सुनते हैं जब तुमको शास्त्रार्थ के समय तुमसे बड़ा पंडित मिल जाता है और तुमको ये लगता है कि शायद इसके तर्क का इसकी युक्ति का इसके प्रश्न का हम उत्तर न दे सकें तो तुम्हारे मन में खलबली मचती है कि नहीं बेचैनी आती है कि नहीं सच सच बोलो और महाराज मधुसूदन जी तो बोले कि होती है महाराज होती है तो ये तुमको अभिमान का सुख है अपनी पंडिताई का तुमको अभिमान हो गया है जिसका तुमको सुख होता है ये आत्म सुख नहीं है वो ये अभिमान का सुख है वो महाराज जी से नमो देख तो वो मुंह फेंकते हैं अब तो ईश्वर कृपा से सफाचट हो तो गई रही नहीं तो क्या ऐसेंगे वो तो कालजाल अपन है ना तो देख सकते करने जरूरत होती तो कुछ नहीं तो सेवा कीजिए जो सेवा जिसे है तमोगुण और एक और दवा दोनों को मिलाने पर रजोगुणी तमोगुण हो जाता और किसी के प्रेम में बेहोश हो जाना ये रजोगुण है और ईश्वर के प्रेम में नाक से नाक से बहुत ही बहुत से बजाते वो सक्षमा विमुख रजोगुण है और योगाभ्यास के द्वारा शरीर को ठीक किया प्राण को ठीक किया प्रत्याहार किया धारणा गया वो सात्विक और समाधि से जो बेहोती होती है वो सात्विक होती है उसमें आलम्बन लेकर होती है आलम्बन स्थूल होता है सूक्ष्म होता है विचार आलम्बन आनंद का आलम्बन होता है अस्मिता का आलम्बन होता है सहारा लेके जो होता है लेकिन क्योंकि अभ्यास से जान पूछ करके हम अभ्यास के द्वारा उसको संपन्न करते हैं इसलिए उसको अच्छा मानते हैं लेकिन अविवेक सपने लगा रहता है मूर्खता बिंद अच्छा नहीं है विवेक ख्याति नहीं अपने स्वरूप को नहीं जाना चाहे गार सुसुप्ति हुई चाहे मूर्छा हुई है ना गार सुसुप्ति समझ है मूर्छा जो है रजत तमस का नहीं है समाधि समाधि भी सहारा लेकर समाधि लगाने से सहारा समाधि अच्छी होती समाधि माने क्या होता है ये जैसे महात्मा लोग मरते हैं ना उनको क्या दिया जाता है आपको मालूम है समाधि दी जाती है माने मुर्दे को कबर में गाड़ देना कबर सपनाना सपनाने का नाम समाधि है महात्मा को दफनाया गया तो समाधि ले गई अपने मन को जानबूझ कर जब उत्तम वस्तु में दफना देते हैं तो राम में कृष्ण में शिव में और वेदांत में अपने आप में जब मन को दफना देते हैं तब उसका नाम समाधि होता है वह की याद में वियोग में रोते रोते मन बेहोश हो गया वो दूसरी चीज है और ध्यान करते करते मन बेहोश हो गया वो दूसरी चीज है और अपने में मन लीन हो गया वो दूसरी चीज है आत्मसत्म मन कृतों न किसी रवि चंद है ये भी काटा है तो प्रिय बोध प्रमोद ये तीन अंग हैं बहिरंग बाहर और अज्ञान है भीतर परंतु अज्ञान से जो विश्राम मिलता है विश्राम तो नीचे दवा दे के डॉक्टर लोग सुना देते हैं बोले बहुत विश्राम मिले आर्मी को तो विश्राम मिलेगा मन को विश्राम मिलेगा तो विश्राम ही परमानंद नहीं है वो जब दवाई का असर मिट जाएगा तो ये तो होगा ना तो ऐसे अपने मन को विश्राम देने का भी नाम योग नहीं है उसमें जो अज्ञान से बेहोशी से बेसुद होकर के जो विश्राम लिया जाएगा वो सुध आने पर टूट जाएगा तो ख्याल जागने पर टूट जाएगा अज्ञान का आनंद ज्ञान होने पर टूट जाएगा मूर्छा का आनंद बेहोशी का आनंद सोने का आनंद हाँ। समाधि का आनंद जब वो अवस्था टूट जाएगी और होश आएगा ज्ञान होगा तो वो भी टूट जाएगी वो ना उसका भी नाश हो जाएगा तो प्रिय की जानकारी बदल जाती है और प्रियता से आदमी टूट जाता है भोग से रोगी हो जाता है और अज्ञान को पकड़ के यदि सुखी होगे तो कब तक अज्ञान में पड़े रहोगे एक विद्वान का अभिनंदन किया गया खन्ना में उनका नाम श्री विश्वनाथ शास्त्री है बड़े अच्छे विद्वान है वृद्ध हैं तो सब लोगों ने उनकी उम्र बंदी हो आशीर्वाद दिया है उम्र बंदी हो उम्र लंबी नब्बे बरस के तो हो गए अस्सी नब्बे बरस के हो गए लोगों ने आशीर्वाद दिया अभिनंदन दिया इनकी उम्र बंदी हो तो उन्होंने जो उत्तर में कहा ना जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी आयु लंबी होने का आशीर्वाद मत दीजिए हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि जब तक हम जीवित रहे तब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे हमारी बुद्धि ठीक रहे है? जो हम उत्तम काम कर रहे हैं वो करते रहे हमको ये आशीर्वाद दीजिए ज्यादा दिन जीने का आशीर्वाद मत दीजिए हमारी बुद्धि ठीक रहे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे हमारा चरित्र ठीक रहे हम किसी को दुख न पहुंचाए हमको ये आशीर्वाद देते तो हम बेहोश होके बारह बरस जिंदा रहे हाँ, ये मत सोचिए हाँ, मूर्ख मत जीवे तो नरा कले न कर्मा हम दो घड़ी किए लेकिन चमक के लिए स्वस्थ न इंद्रो वृद्धक प्रभाव ऐसे काम करके जीवे ऐसे काम करके जिये जिससे लोगों का भला हो लोगों का मंगल हो तो अज्ञान में किए तो क्या ये बेहोशी में कौन सा लोग को को पुकार आप करते हैं मूर्खा में क्या करते हैं सुसुद्धि तो ऐसे ही आके विश्राम दे जाती है उसके लिए जतन करने की क्या जरूरत है तब आओ भाई बोले अब आनंद का चिंतन इन चार बातों को जब आप काट करके अपने स्वरूप में बैठते हैं तब उसका नाम निजानंद होता है प्रिय प्रिय की जानकारी नहीं प्रियता नहीं भोग नहीं और अज्ञान नहीं तो अज्ञान माने अपने ब्रह्म होने का जो अज्ञान है कि हम ब्रह्म नहीं है हम जीव हैं हम तो एक शरीर में कटे पीते हैं परिचित हैं ये अज्ञान के कारण ये भ्रांति हो रही है तो असल में ये निजानंद जो है वो ब्रह्म है इसलिए आनंद का जब चिंतन करना हो तो प्रिय को छोड़ो मोद को छोड़ो प्रमोद को छोड़ो और अज्ञान को छोड़ो और अपने स्वरूप में बैठो ब्रह्म उत्तम प्रतिष्ठा ये हमारा आत्मा देह में फसा हुआ नहीं है संपूर्ण है आपको क्या सुना है हमारे ब्राह्मण बने का अभिमान है ब्राह्मण तो बहुत तरह के होते हैं पांच पंच द्राविड़ होते हैं पंच गौर होते हैं हाँ, गौरों में भी हाँ, जैसे हम लोग कद्दू पारी थे तो उसमें भी ये गर्ग है ये गौतम है ये सांडिल है तो फिर ब्राह्मण के घर में भी हम ऐसे सोचते थे कि ये हमसे छोटे ब्राह्मण हैं हम बड़े ब्राह्मण हैं हाँ, तो छोटे ब्राह्मण के घर में हम कच्ची रसोई नहीं खा सकते बोला पूरी तो खा लें पर कच्ची रसोई दाल भात नहीं खा सकते देखो एक एक करके पहुंचे फिर मालवी जी से मिलना हुआ तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करो हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण एक है इतना तो मान लो है ना सब ब्राह्मण ब्राह्मण है देखो दृष्टिकोण को बदल दिया हो एक घरेलू दृष्टिकोण था एक मालवीय जी का फिर महाराज सावरकर सावरकर मिल गए बोले नहीं नहीं ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हिंदू हिंदू है तो, तो हमारा बड़ा छोटा दृष्टिकोण है ब्राह्मण ब्राह्मण अरे हिंदू हिंदू है मुसलमानों को फिर गांधी जी मिले एक बात है ना तो बोले नहीं हिंदू हिंदू नहीं हाँ, मनुष्य मनुष्य एक हाँ, मानवता एक देखो बोले भाई हम उत्तर प्रदेश के हैं इसी का नाम हिंदुस्तान है हाँ, और प्रांतों ने तो झूठ मूठ अपने अपना नाम हिंदुस्तान रखा प्रांत के नाम बोले नहीं नहीं कन्याकुमारी से लेके तक और देखा समझाया उन्होंने प्रांतीयता नहीं राष्ट्रीयता चाहिए तो नेहरू जी नहीं नहीं अंतर्राष्ट्रीयता चाहिए एक, एक देखो दृष्टिकोण था एक छोटे घर घरौंदे में फंसे रहना और एक बड़ा दृष्टिकोण होना तो जितना बड़ा दृष्टिकोण आपका होगा ना आप स्वयं उतने बड़े हो जाएंगे आपकी दृष्टि ही बड़ी छोटी होती है चीज कोई बड़ी छोटी नहीं होती आपकी दृष्टि बड़ी छोटी होती है आप अपने को शरीर समझते हैं अरे राम राम राम शरीर मत समझो बाबा कम से कम पंचभूत को अपने को समझो ऐसी बात है आपका पृथ्वी है आप जल है आप अग्नि है आप उसमें स्वर्ग नरक नहीं है वो देखो जैसे देह बना इस देह की वासना के संबंध से स्वर्ग नरक बनते हैं पंचभूत ही सब है अरे पंचभूत को मान लो आप तो विशुद्ध आकाश हो न आप में लंबाई है न चौड़ाई है न आप में उम्र है न आप में भेद है देखो कितना ऊंचा दृष्टिकोण है अरे ईश्वर में भी राजा प्रजा का भेद होता है वो आप तो वो ब्रह्म है जिसमें राजा प्रजा का भी भेद नहीं है कोई शासक और शिष्य भी नहीं है न गुरु न शिष्य पिता नहीं हो मैं नहीं हो माता का जन्म बोलते हैं चिदानंद रूप गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम वो दृष्टिकोण देखो जो सब में है वो तो, एक एक देह की दृष्टि से परिवार और परिवार की दृष्टि से गांव और गांव की दृष्टि से जिला और जिला की दृष्टि से प्रांत प्रांत की दृष्टि से राष्ट्र राष्ट्र की दृष्टि से संपूर्ण विश्व संपूर्ण मानवता है ये बड़ी हुआ करते हो तो आप अपने को जेल खाने में से देखो मजहब मजहब लड़ते हैं सिया सुन्नी लखनऊ में सिया सुन्नी का जब दंगा होता है वहाँ बड़ा भारी दंगा होता है और देखो वो क्या नाम है ईसाइयों में होते हाँ हाँ प्रोटेस्ट आपस में लड़ते हैं मारकाट होती है वर्षों तक चलती है हमारे हिंदुओं में सही और वैष्णव की लड़ाई बहुत मशहूर है बहुत मशहूर है तो अपने को आप शैव वैष्णव क्यों मानते हो आप अपने को सिया सुन्नी क्यों मानते हो आप तो वो मनुष्य है और जिसके जीवन का सहारा लेकर के ये सब रहते हैं यदि आप मनुष्य में भी मिट्टी पानी आग के बने हुए पुतले नहीं हो साक्षात परम परमात्मा अभिन्न निमित्तो बाधान कारण इसका नाम होता है पूर्ण दृष्टि ये पूर्णता की जो दृष्टि है ये वेदांत की ये वेदांत की दृष्टि है जैसे पारिवारिक दृष्टिकोण से सामाजिक दृष्टिकोण उत्तम है और सामाजिक दृष्टिकोण से मानवता का दृष्टिकोण उत्तम है ये वर्ग है ना गरीब और धनी ये उत्तम और अधम गरीब धनी की लड़ाई होती है गरीब वर्ग एक हो गया श्रमिक वर्ग एक हो गया कृषक वर्ग एक हो गया ये वर्ग थे बिल्कुल झूठा है आदमी आदमी है मनुष्य है दृष्टिकोण सर्वोत्तम है वो और जीव में भी जो अलग अलग जीव हैं वो अलग अलग जीव भाव को छोड़ करके सब में जो एक परमेश्वर है उसको देखो अरे ईश्वर ईश्वर और ईशितव्य इनका ख्याल छोड़कर एक अभिन्न निमित्तों का दान कारण ब्रह्म तत्व है उसको देखो तो वो दूसरा नहीं है वो तुम उसमें कारण कारण नहीं है उपादान और निमित्त भी माया से है वास्तविक नहीं है ऐसा वेदांत का दृष्टिकोण ये छोट भैया लोग जो अपना अपना आ, अपना अपना फिरका का फिरका ही तो बोलते हैं ना फिरका परस्ती ये महाराज जितना छोटा अपने को मानोगे उतने कोंगापंथी हो जाओगे दकियानुसी दकियानुसी शब्द पहले दकियानुसी शब्द का प्रयोग अपने को जितने छोटे दायरे में बांधोगे तकियानुषी हो जाओगे सिर का परस हो जाओगे दूसरे को तकलीफ पहुंचाओगे अपना घर साफ करने की कोशिश करोगे तो दूसरे के घर में कूड़ा फेंक करोगे दूसरे के घर में कूड़ा फेंकने से तो अच्छा है कि कूड़े को अपने घर में दो दूसरे के ऊपर डाल दो ये वेदांत का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा उदार दृष्टिकोण है उसमें कहीं कोई सीमा रेखा नहीं है उसमें कहीं कोई बंधन नहीं है उसमें उसमें जाति भेद नहीं है मनुष्य और पशु ये जाति भेद क्या है मनुष्य और पशु का जो भेद है ना ये जाति भेद है और स्त्री पुरुष का जो भेद है वो लिंग भेद उसको बोलते हैं और हिंदू मुसलमान का जो भेद है इसको मजहब भेद बोलते हैं धनी गरीब का जो भेद है उसको वर्ग भेद बोलते हैं सही वैष्णव का जो भेद है इसको संप्रदाय भेद बोलते हैं आप भेद को जहां पकड़ करके बैठोगे भेद में वहीं आप दूसरे के लिए तलवार बन जाओगे एक सीमा रेखा ढूंढनी पड़ेगी बनानी पड़ेगी अपने चारों ओर एक चार दीवारी बनानी पड़ेगी जिसके भीतर में खुद तुम अपने लिए देश खुद अपने लिए जेल खाना बनाओगे जब अपने को किसी भेद में सीमित करोगे रेशम का कीड़ा सुना होगा आपने जरूर देखा होगा सुना होगा जाना होगा वो खुद ही महाराज रेशम बनाता है और अपने चारों ओर रेशम का ऐसा जाल बुन देता है कि उसमें से निकल नहीं सकता दूसरा कोई काटे तो रेशम को काटना पड़े तो क्या करते हैं कि वो रेशम के उस जाले को ही हो गर्म पानी में डाल देते हैं तो कीड़ा मर जाता है मर गया हो कीड़ा मर गया और रेशम दूसरे लोग ले गए तो ये जो हम अपने लिए जाल बनाते हैं ये पैसा तुम्हारा तुम नहीं ले जाओगे कोई दूसरा ले जाएगा और ज्यादातर तो ऐसा होता है कि जिसको हम नहीं चाहते हैं वो ले जाता है और उसके लिए अपने को इतना बांधा इतना बांधा अपने को ऐसा जेल खाने में डाला है आप समझते हैं बेटा लोग उसको सुरक्षित रखेंगे भाई लोग उसका ठीक ठीक उपयोग करेंगे आप समझते हैं हमारे मरने के बाद जो इसका मालिक होगा वो हमारी इच्छा के अनुसार खर्च करेगा बिल्कुल गलत ख्याल है बता मतलब। जो करेगा वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं अपनी वासना के अनुसार करेगा तुम्हारी वासना के अनुसार नहीं करेगा ये वेदांत का जो दृष्टिकोण है वो अपना स्वरूप आनंद है दूसरा कुछ नहीं प्रिय आनंद नहीं है मोद आनंद नहीं है प्रमोद आनंद नहीं है प्रिय की जानकारी आनंद नहीं है उसका मिलना आनंद नहीं है उसका भोगना आनंद नहीं है और मन को बेहोशी में ले जाना चाहे दवा के द्वारा चाहे अभ्यास के द्वारा आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा हमारे साधुओं में एक नस दबा देते हैं वो अंगूठे शरीर में होते हैं उस नस को दबा देते हैं आदमी जो होते जाता है हाँ, तो जब होश में आता है तो कहते हैं हमने तुम्हारी समाधि लगा दी न समाधि उमाधि उसका नष्ट नहीं होता है एक, एक आश्रम है अभी ईश्वर कृपा से आश्रम तो चालू है पर वो तब वहाँ का जो था ना वो नहीं है तो वहाँ जब कोई आता था वो तो महाराज हाँ, बड़े कपड़े देखने में बड़े स्वस्थ सुंदर और शरीर पर ज्यादा कपड़ा भी नहीं रखते थे लंगो भी लगाए हाँ, बैठे हैं बहुत भीड़ बहुत बड़ा तो उनके पास प्रसाद तो रखा रहता था कि जो आवे उसको दें भगवान और प्रसाद में दो रंग था एक तो सादा था और एक रंग तो जब तो कोई नया आदमी आता ना तो महात्मा जी और रंगा हुआ जो रंग थोड़ा सा रंग था हल्का वो उसको प्रसाद में था हाँ, अभी था तो जाओ तालाब में स्नान करो और बैठ के थोड़ी देर भजन करो देखो आश्रम का प्रभाव कुछ मालूम पड़ता है तुमको नहीं हाँ, हाँ, हाँ। फिर आना हो तो सत्संग करें अब वो महाराज उस प्रसाद में तो होती थी भाग अब वो नहा धो के जब बैठता था तो खुदकने लगता था उसका मन खुदकने लगता था देखा ना आश्रम का प्रभाव देखो ऐसे यहाँ थोड़े दिन अभ्यास करो तो समाधि लग जाएगी तो ये सब जो अपने आप को चूसने की प्रणाली है जिसका नाम साधन नहीं हो सकता अपने जो सच्चा आनंद है अपने अंदर स्वरूप भूत आनंद है अपने अंदर जो सहज आनंद है अपने अंदर और जो उधार दिया हुआ नहीं है वो मिठाई खाने से नहीं आया वो दही बड़ा खाने से नहीं आया वो इडली दुकान से नहीं आया वो कहाँ से आया वो स्त्री पुरुष से नहीं आया वो पैसा मिलने से नहीं आया वो तारीफ सुन के नहीं आया वो इज्जत से नहीं आया वो बाहरी चीजों से नहीं आया अपना जो सहज आनंद है ना उसके पर्दों को फाड़ डालने का नाम वेदांत है बनावटी आनंद का नाम वेदांत नहीं है ब्रह्म उत्सम प्रतिष्ठा इसलिए आनंद में जहाँ तक भोग्य और शोभता का भाव है वहाँ तक युवानंद है और जहाँ भोक्ता और भोग का भाव नहीं है वहाँ निजानंद है और वो निज जो है वो ब्रह्म है वेदांति बताता है तुम्हारा निज ब्रह्म है और बड़ा उच्च कोटि का दृष्टिकोण है नहीं तो प्यासे अखियाँ प्यासी है अखियाँ प्यासी है कि मन प्यासा है विषय वासना के लिए विषय की प्राप्ति के लिए उसको देखे बिना आंख में खुशी होती है उसको खाए बिना जीत चैन नहीं देती है अरे गरीब दरिद्र है किसी को बोलते हैं दीन है दरिद्र है उसके अपने पास कुछ नहीं है वो दूसरों से भीख मांगता फिरता फिरता है तो पैसे वाला हो चाहे विद्वान हो चाहे बुद्धिमान हो चाहे नेता हो चाहे हुकूमत वाला हो हाँ, हाँ। जिसको अपने को सुखी रखने के लिए दूसरे की जरूरत है उसका अभी निज जो है वो हीन है निज जो है अपना आपा जो है निज जो है वो हीन है वो तीन है इस तीनता को इस हीनता को मिटाने के लिए हाँ, हाँ। और अपने ऊपर जो तुमने जेल खाना जोड़ रखा है कैद लगा रखा है चार दीवारी बांध रखी है मन इस पर्दे को फाड़ना पड़ता है